बुद्धिमंद है कामी दुकामी ये सबके सब दोष हो कामी होना भी दुर्गुण है ये मंदमति होना तो दुर्गुण है ही है दुर्बुद्धि है कम बुद्धि है नासमझ है उल्टी बुद्धि है ये सब जो है ये जमीन बात है मल राश मल क्या है यही काम करोड़ लोग को मल मकर ये सब मल है ये सब व्यक्ति के अंदर भरे हुए हैं छल कपट प्रपंच भरा हुआ है तो व्यक्ति मलित है ईर्षा द्वेष करता है तो मलिन दूसरे व्यक्ति को जो धोखाधड़ी काम करता है उसका मन मलिन यही कहते हैं ये मलिनता जो ये है अब जहाँ मोह होगा वहाँ ये सब होगा ये कहने का तात्पर्य ऐसे नहीं कि रावण तो अंदर को गुस्सा आ गया तो कुछ न कुछ बोल दिया गाली गलौज में ये सब जो है मोह जहाँ होता है तो मोह में ये दुर्गुण सब होते हैं मोह जो है उसमें मोह में फिर अहंकार भी होगा कामना भी होगा क्रोध आदि भी होगा लोग वो भी होंगे फल प्रपंच पाखंडात भी उसमें सम होंगे और दुष्चरित्रता भी मोह के कारण से आती है भ्रष्टाचार दुराचार मोह के कारण से आता है समाज में अगर आपको भ्रष्टाचार बहुत दिखाई दे तो ऐसा थोड़े कि लोग बहुत ज्ञानी हैं और बड़े महान है इसलिए भ्रष्टाचारी है इनके समान बहुत महान होगा जितना सब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं ऐसे तो है ये सबसे सब मोहग्रसित मंदमति मूड है किस लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं इसलिए जो यथार्थवाद शास्त्र कहता है उसको चित्र में धारण करनी चाहिए नहीं तो समाज तो जरा देर में बुद्धि को बदल देता है समाज में भ्रष्टाचारियों की प्रशंसा करेंगे अरे साहब उनके समान कौन हुआ उन्होंने तो करोड़ों उनके पास है अरे कहा उन्होंने चोरी करके चल लिया ऐसा अरे तो क्या हुआ उसका तो है तो किसके पास है इतना है किसी के पास है वो सब कुछ कर सकता है संसार में जिसके पास आज तक पैसा वही महान है ऐसे लोग बोलेंगे और लोगों की बुद्धि जो है जो दर्जी लोग जो कम पैसे वाले हैं उनके विचारों की बुद्धि फिर जाएगी कहेंगे हाँ यही ठीक कहते होंगे ऐसा ही होगा भ्रष्टाचार बहुत अच्छी चीज होगी दुराचार ही बहुत अच्छी चीज होगी इसलिए जो है वो साफ सावधान करते हैं कि ऐसी बुद्धि व्यक्ति की बुद्धि में ये ये कुछ बातें ये मूल्यहीन व्यक्ति का जो चरित्र स्वभाव है ये नहीं आना चाहिए इसलिए कहते सन्नपात जल बस दुर्बाता कि तेरा तुमको तो सन्नपात हो गया सन्निपात के माने है कि जब बात से कब तीनों जोर करे और व्यक्ति बेहोश हो जाए बुखार बहुत तेजी से चढ़े और वो उसकी बने बेहोश हो जाए और बेहोशी में बड़ा ये अवस्था जो है उसे कहते हैं और सन्नपात जब हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं मरने वाला है <coughs> कोई दवा उसके ऊपर सन्नपात जिसको हो जाता है उसको कोई दवा काम नहीं करती है तो वैसे रावण जो है सन्निपात गणपति अब सन्नपात में रावण कहते तुम सन्नपात में इस प्रकार करोगे माने अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और तुम मरने वाले हो मुझसे तुम्हारी दिक्कत आ गई सन्नपात जलपति दुर्बाधा दुर्वादावन दुर्वचन बोलते हो तुम जो बहुत बात नहीं कहनी चाहिए वैसे बोल रहे भय से काल बस फल मन जाता कर तुम इसलिए काल बस हो गए पन्नपात हो गया तो मैंने अस्पताल आ गया मरने वाले थे <clears throat> भय से काल बस खल फिर कहा तुम खल हो दुष्ट हो और मनु ज्यादा मैं निशाचर हो <clears throat> मनुष्यों को खा जाने वाले <clears throat> इस प्रकार के निशाचर हो या तो फल पावे वो आगे जो तुमने इस प्रकार भगवान की निंदा की और दुर्वचन बोल रहे हो इसका फल तुमको आगे जरूर मिलेगा क्या होगा कि बानर भाल चपेटने लागे ये बारह भाल जितने हैं वो सब जब युद्ध में आएंगे सब तुम तुमको मार मार करके तुम्हारे गुजरी बना देंगे तुमको तब तुम्हारी समझ में आवेगा कि तुम दुर्वचन बोल रहे हो तो उसका क्या परिणाम होता है राम मन जो बोलते असतानी यदि ऐसे बोलते हो भगवान राम मन से है शर्म नहीं आती तुमको बोलते हुए इस प्रकार से तुमको मनुष्य समझते हो अब देखो ये सब ये ये वाक्य जैसे है कि राम मनुष्य बोलते असमानी और गिरे न तब रसना अभिमानी ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं संप्रदाय हो चाहे न हो लेकिन मान्यताएं बहुत इस प्रकार की हैं अरे वो कहते हैं कि अवतार अवतार कहाँ होता है एक राम क्या है हाँ एक मनुष्य था थोड़ा इतिहास में ज्यादा बहुत से इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उनको महापुरुष मान लो ऐतिहासिक पुरुष मान लो बस और क्या भगवान राम रखते ऐसे लोग जो बोलने वाले हैं उनके लिए रामचरित मानस तुलसीदास क्या कहते हैं जैसे राम मनुष्य बोलत असमान भगवान राम को तुम साधारण मनुष्य बोलते हो गिर नहीं तब रसना अभिमान कि तुम्हारे जीव से गिर नहीं जाती तुम्हारी इतनी मूर्ता की बात करते तो जितने समाज में कुतर्क वगैरह होते रहते हैं उनका सबका उत्तर मिलेगा लेकिन वैसे अगर आप अखंड पाठ करते चले जाओगे तो उसमें आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा हम्म? आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि तुलसीदास क्या कहते हैं रामचरित मानस में क्या लिखा है जब एक एक चौपाई के ऊपर विचार करो ध्यान दो शांति के उसको समझने की शांत में बैठो तो पता लगे कि दुनिया में जो लोग जो जो जिस प्रकार की बात अध्यात्म के विषय में जिन लोगों के बच में भ्रांतियाँ हैं और गलत गलत बातें समाज में बोलते रहते हैं उन सबका उत्तर यहाँ है सबका उत्तर राम मनुज बोलते असबानी गिरे न तब रसनाय अभिमानी और गिरी रसना संशय नाय पहले कहते तुम्हारी जीत करके गिर नहीं जाती है तुम ऐसे बोलते फिर कहते गिरेगी करते सुना तुम्हारी जीत तो पत्नी गिरेगी अभी गिरती तो आगे गिरेगी गिरी है गिरी है रचना गिरी है रचना बहुवचन में रचनाएं जितनी भी तुम्हारी जीवें हैं दसो जीवें सब करके गिरे कैसे गिरेंगी कि सिर समेत समर महिमा ही सब सिर कटके गिरेंगे तो जीवन में जो उसी के साथ गिर जाएंगे इस प्रकार वो गिरेंगे तुम्हारे अंत में जीवों का झरना ये होगा होगा जरूर माने इस बात की ये भी शास्त्रीय सूचना है कि जो लोग इस प्रकार से परमात्म तत्व को नहीं मानते नहीं समझते दुर्बुद्ध हैं उनका भी दुष्परिणाम भी होता है उसका फल उन्हें भोगना पड़ता है अहंकार में व्यक्ति भले ही इस बात को समझता रहे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करता रहे तो ऐसे कुछ नहीं होता करने से कुछ कहने से तो नहीं होगा उनको तो उसका परिणाम भोगना ही भोगना पड़ता है समय आता है तो सब देखने को आता है कहते हैं सो नरे क्यों तो सकन बाल बचे हो जी एक अर्थ ही कहते हैं कि देखो तुम उसको फिर मनुष्य कहते हो पहले भी कह चुके कि भगवान को तो देखो भगवान ने इस प्रकार से वही भगवान है जिन्होंने जो सासरा भाव को मारा जिन्होंने की जिस सासरा भाव को मारने वाले परशुराम जिनके के सामने आए तो चुपचाप उनका अहंकार भी क्षीण हो गया धनुष्मान दे करके चले गए ऐसे भगवान राम उनको तुम मनुष्य कहते हो तो कहते सो नरे चौदह सकंद बाल बधो जी एक सर अब यहाँ सासरा भाव की बात नहीं कहते बाल की बात कहती अंगद ने तीन की बात कही रावण के सामने तीन जगह रावण पराजित हुआ एक तो शास्त्राभाव से और दूसरा बलि से और तीसरा बाल तो शास्त्र भाव की बात पहले कह चुके यहाँ पर बाल की बात अंगत कहते हैं बाल ने क्या किया कि सो नर क्यों दसकंद बाल बधेव यही एक सर जिस बाल को भगवान राम ने एक बाण से मार दिया तुम तो समझते को मनुष्य है और अब ये बार बार कहेंगे वो तो नहीं रावण के सामने रावण को याद आ जाना चाहिए कि उस बाल को जिसको एक बाण से भगवान राम ने मार दिया है उसके हम बदल में दबे रहे महीनों तो अपनी शक्ति कितनी है तो कहते हैं बीसव लोचन अंध अब जन्म कुजात जड़ तो कहते हैं कि तुम्हारे फिर भी अगर ये बात तुम्हारी समय में नहीं आती तो बीसव लोचन तुम तो बीस बीस आंखें हैं जरूर लेकिन सब बीसों आंखों से किसी आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता बीस में से कोई आंख से नहीं दिखाई देता ये भी कहने का तात्पर्य है कि जिन आंखों से दिखाई देता है मनुष्य को ये तो चर्म चक्षु कहलाते हैं और दिखाई देता है ये झूठी दुनिया दिखाई देती है बस और कुछ इन आंखों से दिखाई देने वाला नहीं सत्य जो है वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता सत्य उनको दिखाई देता है जिनकी की बुद्धि स्वच्छ निर्मल है और जिनका के हृदय में जो अपने देख सकते हैं उन्हीं को सत्य दिखाई देता है नहीं तो इन आंखों से आंखें तो न दिखाई देने के बराबर है क्या सत्य को देखने के लिए तो आंखें अंधी हैं चर्म चक्षु कहते हैं दीसव लोचन अंध विगत अव जन्म कुजात जाओ तुम्हारे जन्म को धिकार है तुम कुजाति हो जड़ कुजात के मानी निशाचक तुम है इसलिए तुम कुजाति हो और वैसे जाति अगर देखो पूर्वजों से तो पुलिस ऋषि का नाती है तो पुलिस ऋषि का नाती में ऋषिवंश है तो कुजात तो नहीं हुआ जात तो अच्छी हुई लेकिन वहां से तो जात ठीक थी पुलस्त की लेकिन पुलस्त का पुत्र जो विश्वा हुआ उसके उस उसके पास वो इंद्र ने या किसी ने दो सेविकाएं उनके पास भेज दी थी निशाचरी की दो निशाचरी उनकी सेवा में रहती थी उस एक निशाचरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ पुष्पदंता या पुष्पहंता उससे जो है रावण की उत्पत्ति हुई तो निशाचरी का पुत्र होने के कारण थी निशाचरी अब देखो कहीं न कहीं शरीर की प्रभाव भी होता है तीनों प्रकार के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ते हैं वातावरण का भी पड़ता है वंश परंपरा का भी पड़ता है और पूर्व जन्म के कर्मों का भी पड़ता है रावण के पूर्व जन्मों के कर्मों से सनत सनत कुमार का अभिशाप उसके कारण से निशाचर और माता राक्षसी होने के कारण से ये राक्षसी हरे जी का भी प्रभाव है और उसके बाद फिर ये है वातावरण का भी प्रभाव जब ये पैदा हुआ तो उसके बाद में सब जितने आसपास जितने निशाचर थे वही सब आसपास घिरने लगे इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे करके ये सबसे बड़ा प्रबल राक्षस निशाचर हुआ और सब लोग इसकी सहायता करने लगे तो वातावरण में ही वातावरण में चारों तरफ इकट्ठा होने लगा <coughs> जब ये पैदा हुआ रावण कुंभकर्ण तो <coughs> दोनों एक माँ के पुत्र तो उन उसने माने जो है इनके दोनों की पालन पोषण किया तो बाल काल में माता निशाचरी माता के पाले पोसे हुए पुत्र निशाचर एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे आजकल देखते हैं कि समाज में बालक जो है उद्दंड हैं दुराचारी हैं भ्रष्टाचारी बालक हो रहे हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि उनकी उनकी गलती उनके जन्म में ही उनकी गलती हो गई जिस समय वो गर्भ में थे उस समय माता पिता की बुद्धि जो दुर्बुद्धि वे विषय भोगों में संसारी आसक्तियों में दुराचार भ्रष्टाचार में लगे हुए थे इस कारण से उनका संस्कार बालकों के बने और पैदा होकर के भी अपने माता पिता के संस्कार हमारे अब बड़े होने पर माँ बाप कहेंगे मेरा होता ऐसा कैसे हो गया ऐसे कैसे हो गया अब कैसे कैसे हो गया उनको अपने होता ही नहीं कि उनको क्या उन्होंने किस प्रकार जब घर में बालक था तब उन्होंने क्या किया और जब बालक छोटा था उसके सामने अब घर में छोटे बच्चे होते हैं और माँ और बाप खूब लड़ते हैं खूब गालियां देते हैं आप समझते बच्चे के बड़े अच्छे संस्कार बन रहे हैं इतनी बातें से जो है ये है व्यक्तियों को साधारण सी बातें हैं संसार की भौतिक जीवन की भौतिक जीवन की भी समझदारी की बातें हैं तो उनमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए आगे चल करके वही पुत्र बड़े होकर के निशाचरी स्वभाव और बड़े होने के बाद माँ बाप का गर्दन दबाते हैं धुंधकाली बनते हैं भागवत की कथा में धुंधकाली क्या है बस वो माता पिता को मारने वाला धनापहरण करने वाला पीड़ा पहुंचाने वाला ऐसे कृपालक बनते हैं तो इसके लिए तो ये कि पुत्र उत्पन्न होने के लिए तो उत्पन्न होते जाते हैं स्वामी जी तो कहते हैं क्या है आजकल तो के लोगों को ध्यान ही नहीं है पुत्र उत्पन्न होने के ये क्या है पुत्र क्या है किसी को अनपेक्षित पुत्र है बाई प्रोडक्ट है ये तो ऐसे नाराज होते हैं स्वामी जी कहते हैं कि देखो दुनिया की क्या हाल है किस प्रकार समाज हमारा कहाँ कहाँ कितना आदर्श हमारा भारतीय संस्कृति का और कितनी उत्तम शिक्षाएं कितना सुंदर ज्ञान और वो सब का सब कैसे करके हो गया लोगों ने उसको सबका सबका सब भुला दिया और सब गलत रास्ते पर चल करके सारा समाज ही बिगाड़ दिया स्वयं बिगड़ गए सारा समाज बिगाड़ गया तो ये रावण का साथ में इसी प्रकार से हो गया कि कहता है कि भिग जन्म कुजाति जड़ तुम इस प्रकार से कुजाति हो जड़ हो निशाचर तुम्हारी कुजाति तब सोन की प्यास प्रसिद्ध राम सहायक निकर और कहे तुम्हारे सोनित मन रक्त अब तुम्हारे रक्त के प्यासे हैं भगवान राम के मां अभी तक तो रावण जो था वो गाय मित्र ऋषि मुनि <clears throat> देवता इन सबके खून का प्यासा था बस इनका खून चूसना तो ही इसका काम था <clears throat> ये मत समझो कि निशाचर नाम की कोई एक अलग जात थी कभी भी रही है ये मनुष्य ही है जो निशाकर होते हैं और मनुष्य ही है जो देवता होते हैं ऐसे न समझे कि मनुष्य एक अलग जाति का प्राणी है जैसे गाय बैल बकरी होते हैं ऐसे करके एक निशाचर भी कोई प्राणी होता होगा ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल वो निशाचर नहीं होते हैं अब मनुष्य ही दिखाई देते हैं गाय बैल बकरी दिखाई देते हैं पशु पक्षी दिखाई देते हैं लेकिन निशाचर नहीं मिलते ऐसा नहीं है निशाचरों की संख्या कुछ कम नहीं है बहुत निशाचर है ये जितने भ्रष्टाचारी दुराचारी और उसका भी अहंकार रखने वाले के मैं कितना भ्रष्टाचारी तुम कितने हो गए मैं तुमसे ज्यादा वो कहते तुम कितने गए मैं तुमसे ज्यादा ऐसा अहंकार रखने वाले संसार में जितने भ्रष्टाचारी है ये सब निशाचर ही और ये सब रक्त चूसने वाले अगर इनके पास अगर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी होती है आती है तो बिना खून चूसे थोड़ी आ गई तो यह है कहीं कहीं इन्होंने जनता के लोगों को गरीब लोगों को उनके खून चूसते हैं और बस उसी से इनके पास संपत्ति इकट्ठी होती है यही इनकी निशाचरी प्रवृत्ति <clears throat> तो कहते हैं सब सोने की प्यास अभी तक तुम खून पीते रहे सबका अब तुम्हारा खून पीने वाले भगवान राम के बाण वो तैयार है उनकी प्यास उनको बहुत है माने अब वो बाण आएंगे और तुम्हारा कंजूस है सब सोनत की प्यास प्रसिद्ध राम सहायक निकर प्रसिद्ध वाले चाहते हैं राम सहायक भगवान श्री राम जी के बाण निकर्मण समूह भगवान श्री राम जी के बाण समूह एक नहीं तमाम बाण सबके सब जो वो तुम्हारे खून के चाहते हैं और सजो तो ही त्रास कटु जल पचम के बस इसी डर के कारण तुमको छोड़ते हैं कि अगर तुमको अगर हम मार दें अभी तो फिर भगवान राम के प्यासे बाण उनको रक्त कहाँ मिलेगा वो प्यासे के प्यासे रह जाएंगे इसलिए उन्हीं की प्यास बुझने दो इसलिए हम तुमको छोड़ देते हैं यहाँ तक संगत ने राम से कि कट जलपत निश्चर अधम तू अधम है निशाचर है और कट जल्पना कर रहा है गंदी बातें है ये तुलसीदास का रामचरित मानस राम कथा है लेकिन वास्तविक राम कथा यही है उसके बाद में लोगों ने आजकल अनेक लोगों ने गद्य में राम कथाएं लिखी हैं और उनको ऐतिहासिक रूप देने की कोशिश की है <clears throat> उन्होंने भगवान की राम की जो <clears throat> भगवत्ता है उस भगवत्ता को मिटा करके एक पुरुष के रूप में उसका वर्णन करने की कोशिश की और उसमें अगर उसका अर्थ देखो वो कोई आध्यात्मिक प्रतीक उसके भीतर मिले तो उनके ग्रंथों में नहीं मिलता कथा कथा के रूप में आप इतिहास जानना चाहो तो इतिहास तो खूब इकट्ठा कर दिया है और विस्तार भी इतिहास कर दिया है उतना इतिहास तुलसीदास ने नहीं दिया है तुलसीदास ग्रंथ देखेंगे तो ऐतिहासिकता की बात कम है घटनाएं थोड़ी है लेकिन उसमें आध्यात्मिक चर्चा ज्यादा है और लोगों ने अब जो लिखे हैं भगवान राम कथाएं राम कथा के रूप में कई लेखक हुए हैं उन लोगों ने जो लिखी है तो उनमें ऐतिहासिकता खूब है भौतिक बातें बहुत हैं रावण था फिर कहाँ गया और फिर कहाँ उसने क्या किया कहाँ किससे युद्ध किया अब इसमें ये पता नहीं इसमें संक्षेप में कह दिया रावण ने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और चला तो दशानंद दौलत अवनी ये सब तो लिख दिया लेकिन अब उन लोगों ने कथाकारों ने तमाम ग्रंथों को देख देख करके ढूंढ ढूंढ के पता लगा लगा करके लिखा कि रावण पहले आंध्र प्रदेश में था वहाँ पर उसके उसने फिर वहाँ के लोगों से वहाँ एक जात उस समय रहती थी उसके ऊपर फिर उससे उसने युद्ध किया उस युद्ध में वहाँ पर उसने उसने विजय प्राप्त की तो फिर वहाँ का वो एक छोटे स्थान का शासक बन गया और फिर उसके बाद फिर उसने दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण किया फिर तीसरे राज्य के ऊपर आक्रमण किया फिर उसने अपने इस प्रकार सबसे बढ़ाई फिर इस प्रकार से बढ़ाई और फिर स्थानों के नाम देश में भारतवर्ष में पहले यहाँ तापरे यहाँ तापरे यहाँ तापरे जाकर के लंका में फिर उसने अपनी राजधानी बनाई तो बात डिटेल सब इतिहास से बहुत बातें देते हैं लेकिन उस डिटेल के पढ़ने पर कहीं आपको ये मिले कि रावण वो रूप है ऐसा नहीं भगवान राम का भी विस्तार से वर्णन करेंगे लेकिन उसमें ये नहीं मिलेगा कि भगवान राम पर परम परमात्मा है अवतार इसका वर्णन तो उसका जो कथा का जो प्रयोजन है वही खत्म हो जाता है तुलसीदास की रामायण जो कथा का प्रयोजन है वो दूसरी कथा का प्रयोजन <clears throat> उसमें ये है कि व्यक्ति पढ़ते पढ़ते उसके अंदर जो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ही उसके अंदर की जो कलुषित प्रवृत्तियां हैं वो दूर हो चित्त शुद्ध हो निर्मल हो जीवन के जो वास्तविक जीवन जीने का तरीका है वो समझ में आवे जीवन के उच्च मूल्य है उनका आदर करना व्यक्ति सीखे आध्यात्मिक चेतना उसके अंदर जागे मुख्य उद्देश्य रामचरित मानस का <clears throat> तो कहते सजम तो ही प्रात चटु जलपक निश्चर्य हम तुम दस की कल्पना करते हो और <clears throat> इस प्रकार से रावण ने उसको डांटा <clears throat> आगे और भी अंजर की बात है इसे कल देखेंगे अब अंजर जो वो हो इस बात रावण को अगर अंगद की शक्ति का भी पता नहीं चला तो अंगद एक बार और उस शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अपना पैर भी वहाँ पर सभा के बीच में सबकी जगह आरोपित कर देता है सबसे हटाने के लिए कहता है वो बात अब कल आती है एक बार फिर अंगद दिखाते हैं कि देखो कि कितनी शक्ति है समझ लोगे अन्या रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकुं गवनिर्भराम्ये कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च श्रीराम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम